嗯。 एक सौ पैंतीसवें सूत्रों तक हमने पीछे देखा था डिपार्टमेंट से किन्हीं को कुछ पूछना है तो जरी सूत्र नंबर सेवेंटी एट में न सर्वोच्च थी पुरुषार्थ द्वारी पुरुषार्थ ने बताया कि सब कुछ नष्ट होने पर तो वो क्या है सब कुछ ये नहीं समझ में न सर्वोच्चति के लिए चल रहा था कि क्या ये मुक्ति है क्या ये मुक्ति है तो सबका हट जाना सबकी उच्छेदी हट जाना नष्ट हो जाना क्या ये मुक्ति है बोले ये तो मुक्ति नहीं है यदि ऐसा माने कि सबका समाप्त होना उच्छेद होना ही मुक्ति है तो अपरुषार्थ का दोष आएगा अपुरुषार्थता मतलब पुरुष का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा वहां पर जो पहले यत्न किया था वो व्यर्थ हो गया सब कुछ छूट गया अगर सब कुछ छूट गया कुछ प्राप्त नहीं है तो व्यर्थ हुआ फिर वो मुक्ति क्या हुई ये दोष आएगा जो किया है उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा ये दोष तो है क्या स्पष्ट मतलब इससे पहले वाले सूत्र में लिखा है जैसे आकार के ऊपर आपकी स्थिति भी मुक्ति नहीं है आकार जैसे कि शरीर इत्यादि तो उससे पहले लिखा है कि आत्मा की कोई गति नहीं है और उससे पहले है कि आत्मा में किसी विशेष गुण का उच्छेद हो जाए तो यहाँ पर लिखा है जो सब कुछ ही नष्ट हो जाए सभी कुछ का उच्छेद हो जाए तो सभी कुछ में क्या क्या आएगा इसमें जो पिछला आया सब कुछ वो नहीं पिछला भी लेना चाहे ले सकते हैं कोई बात नहीं है लेकिन जितनी भी चीजें हैं बस सब समाप्त हो गया कुछ भी नहीं आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं बस वो सब कुछ समाप्त हो गई ये मुक्ति है आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है बस अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब हट गई सब समाप्त हो गई ये मुक्ति है ठीक बात सर आत्मा का मतलब समझते हैं आत्मा के अन्य क्या क्या है आत्मा के अतिरिक्त शरीर है वृद्धियां हैं सब सब हट गई परमात्मा भी नहीं कुछ भी नहीं आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जो भी हमें दिखाई देता है अनुभव आता है वो सब हट गया क्या इसका नाम मुक्ति है केवल आत्मा बच गया और कुछ भी नहीं है परमात्मा भी नहीं है जी हाँ आत्मा के अतिरिक्त में परमात्मा भी आएगा कुछ भी नहीं है बस बस केवल आत्मा बच गया क्या इसका नाम मुक्ति है ये भी मुक्ति नहीं है और एक है 108 सूत्र नंबर 108 न द्रव्य नियम तदयोगा क्रिया या वृत्ति वृत्ति एक तरह की क्रिया है व्यापार क्रिया के रूप में क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है तो उस दृष्टि से कोई ये कहे कि वृत्ति तो केवल द्रव्य में ही रहनी चाहिए यानी चक्षु है तो चक्षु की वृत्ति चक्षु में ही रहनी चाहिए गोलक में उसकी आधे इधर उधर कहीं नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई कहे तो यदि ऐसा है तो फिर वृत्ति का गमनागमन और इधर उधर जाना जो ऊपर कहा संबंध धारकम सरपति थी संबंध के लिए वो जाती है ये नहीं हो सकता चक्षु तो एक ही जगह है लेकिन वृत्ति दूसरी जगह भी प्रवृत्त हो रही है ये कथन नहीं बन पाएगा वृत्ति है चक्षु की वृत्ति यानी व्यापार क्रिया वो कहां रहनी चाहिए द्रव्य में ही होनी चाहिए द्रव्य से बाहर नहीं होनी चाहिए जब इन्होंने ये कहा पिछले सूत्र में भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति वृत्ति है भाग और गुण से अलग है चक्षु का भाग नहीं है चक्षु का कोई भाग नहीं है और न चक्षु का गुण है तो यदि भाग होता तब तो चक्षु ही बाहर जाती उसी का भाग माना जाता और न उसका गुण है तो वृत्ति है वृत्ति क्रिया है क्रिया कहां रहेगी द्रव्य में और द्रव्य कौन है चक्षु या प्रसंग में द्रव्य कौन है चक्षु तो चक्षु से बाहर तो नहीं होनी चाहिए ना तो चक्षु से बाहर नहीं हो सकती है फिर संबंधार्थम सरपति है संबंध के लिए गति करती है ये कैसे बनेगा बाहर चक्षु ही जा रही है वो तो इनको स्वीकार्य नहीं था कि चक्षु ही बाहर जा रही है और अब वृत्ति कहते हैं तो वृत्ति चक्षु से बाहर जा नहीं सकती द्रव्य से बाहर तो कैसे इससे व्यापार से तो क्रिया द्रव्य में ही होगी उसके बाहर नहीं होगी और चक्षु में ही अगर है तो फिर क्या बाहर कहां गई होगी तो प्रश्न तो ये था कि वस्तु से संपर्क कैसे हो रहा है नेत्र से हमें दूसरी चीजें कैसे दिखाई दे रही बाहर यही तो प्रश्न था नेत्र अलग है वस्तु अलग है फिर कैसे हमें पता लग रहा है यदि वो वृत्ति बाहर जा रही है और चक्षु वहां पर नहीं है तो भी समस्या आएगी ना फिर बिना द्रव्य के वो वृत्ति कैसे है वहां पर बिना द्रव्य की क्रिया कैसे है नहीं हो सकती इसकी आपत्ति आए तो उसका उत्तर इसमें एक सौ आठ न द्रव्य नियमन वृत्ति द्रव्य में ही रहे उसी द्रव्य में रहे ये कोई नियम नहीं है इस दृष्टि से वो उससे बाहर भी रह सकती है तद योगा उसके योग से वो वृत्ति होती है द्रव्य में ही रहे ये कोई नियम नहीं है वृत्ति के योग से ये सब होता है तो उस विषय में मैंने संगति आपके सामने रखी थी कि नेत्र में नहीं नेत्र के बाहर जो चीज है बाहर मतलब पीछे बुद्धि तक पहुंचने के लिए जो तंत्रिका तंत्र है वो सीधा सीधा नेत्र नहीं कहलाता तो नेत्र से बाहर भी इसकी चक्षु की वृत्तियां विद्यमान है और उससे इसकी सिद्धि होती है बाहर से प्रकाश आया नेत्र तक नेत्र गोलक है फिर उसकी क्रिया है वृत्ति है वृत्ति से वो सारे संकेत पीछे तक जाते हैं तो वो नेत्र में ही सीमित रहे ऐसा नहीं है यद्यपि क्रिया हो रही है तो द्रव्य में तो है लेकिन दूसरा द्रव्य है चक्षु के अतिरिक्त जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर वो वृत्ति चल रही है संवेदनाएं जा रही हैं यही वृत्ति है चक्षु से संबंधित जो संवेदनाएं हैं वही वृत्ति है उसमें गति होती है वो व्यापार है उसका उसके बिना ज्ञान नहीं होता तो वो उसी द्रव्य में रहे ऐसा नियम नहीं है ऐसा यहां से हम तात्पर्य ले सकते हैं वैसे ही सूत्र को लक्षित प्रमाण के हटा रखा है अगर यूं कहें कि बिना द्रव्य के भी क्रिया के रहने का बात यहां कही जा रही है तब तो गलत ही है कि क्रिया बिना द्रव्य के रहती है ऐसा कभी देखा ही नहीं जाता है और वैशिष्य के भी विपरीत है सिद्धांत विरुद्ध है इसलिए ये तो कभी नहीं कहेंगे कि द्रव्य में ही रहे क्रिया ये कोई नियम नहीं है द्रव्य के बाहर भी रहती है ऐसा सूत्रार्थ करेंगे तो ये गलत ही है सिद्धांत विरुद्ध है प्रत्यक्ष के विपरीत है यही मान करके अन्य भाष्यकारों ने इसको कहा कि ये तो प्रक्षिप्त है अब अगर हम इस सूत्र को प्रक्षिप्त मान देते हैं तब तो सारी चर्चा ही खत्म होगी क्योंकि तो पर बात ही नहीं करनी है हमारे लिए गलत है हटा दिए अब यदि इस सूत्र को मानते हैं तो इसमें सिद्धांत विरुद्ध बात तो हमें निकालनी नहीं है सिद्धांत के अनुकूल क्या चीज हो सकती है दो संगति ये हो सकती है कि द्रव्य में ही वृत्ति रहे उसी द्रव्य में ये नियम नहीं है उससे भिन्न में भी रह सकती है भिन्न में भी रह सकती है कुछ लोग इसके दूसरे ढंग से भी संगति लगाते हैं जैसे चुंबक चुंबक का अपना क्षेत्र होता है आकर्षण का अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चुंबक रहती है और जितना उसका आकार प्रकार है उतने में उसकी जो शक्ति है उसके बाहर भी रहती है गुरुत्वाकर्षण आधुनिक दृष्टि से बात करें पृथ्वी पृथ्वी अपनी उसकी सीमा कहां तक है जहां तक इसकी पर सतह है वहीं तक है जबकि अच्छा, गुरुत्वाकर्षण कहां तक है उससे बाहर तक है दूर तक उसको इस तरह से संगति लगाते हैं कि ये जो चक्षु की वृत्ति है ये इसके बाहर भी है ठीक है ये कोई नियम नहीं है कि वहीं तक ही है अब इसको क्रिया से नहीं जोड़ेंगे क्रिया से भिन्न उसका प्रभाव है ऐसा कुछ उस तरह से संगति लगाते हैं और वो भी चक्षु के ऊपर उस तरह से घटती हो तो लगा सकते हैं अब इसकी गति हमें करनी है वृत्ति से ये सारी सिद्धि हो रही है पीछे कहा था प्राप्त्यर्थ प्रकाश लिंगात युग वृत्ति सिद्धि चक्षु की कुछ वृत्ति है ये कैसे पता लगता है क्योंकि प्राप्त अर्थ के प्रकाश के स्वरूप वाली है जो वस्तु हमें ज्ञात हो रही है उसका प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है इसको हमें पता लग जाता है वस्तु क्या है प्रकाश तो हमारे पास तक आ रहा है अब फिर वृत्ति को देखना है तो चक्षु का अंदर का व्यापार है तो चक्षु के अंदर तक है लेकिन कह रहे हैं न द्रव्य नियम वो द्रव्य तक ही रहे ऐसा नहीं है तो आपत्ति करेगी ठीक है प्रकाश यहां तक आ गया फिर बाद में कैसे बोध हो रहा है आत्मा तक तो पीछे तंत्री का तंत्र है वो व्यापार है वृत्ति है इंद्रिय की वृत्ति पीछे तक चलती है आगे आगे ही रहे बाहर जाए ऐसा नहीं कह रहे उससे पीछे भी इंद्रिय की वृत्ति रहेगी इस तरह से ये संगति का कुछ प्रयास है ठीक है धन्यवाद करना पंजाबियों में जो प्रतिज्ञा और उधार हेतु इसलिए जो उपनया है उसमें क्या उपनय के अंदर होता है कि जैसे ये वैसे हो जैसा ये है वैसे ये जो उत्पन्न होता है एक घड़ा अनित्य है घड़ा अनित्य ये प्रतिज्ञा हुई घड़े का अनित्यत्व सिद्ध करना है उसमें हेतु दिया उत्पन्न होने से ठीक है व्याप्ति बनाई जो जो उत्पन्न होता है मेरे नष्ट होता है ये व्याप्ति बनाई उदाहरण दिया जैसे कि वस्तु विद्या कहती है कि घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से जैसे कि वस्त्र कपड़ा वस्त्र अब इसको खोल देते हैं जैसे वस्त्र उत्पन्न होता है और अनित्य है ऐसे ही घट भी उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है ये तुलना हम कर रहे हैं ना तो उदाहरण में तो केवल ये कहा जैसे कि घट जैसे कि घड़ा जैसे कि घड़ा मतलब घड़ा उत्पन्न होता है और अनित्य है बस इतना मैं घड़े को बताया जो हमने हेतु दिया था वो हेतु को और जो धर्म है अनित्यता उसको घटा के बताया ऐसा कपड़ा भी होता है उदाहरण में पट लिया घट नहीं पट लिया घट तो हमारा प्रतिज्ञा बने अब उपनय में करेंगे जैसा कपड़ा है वैसा ही घड़ा भी है जैसा का मतलब जैसे कपड़ा उत्पन्न होने के कारण अनित्य है जैसे नहीं केवल इतना देखें जैसे कपड़ा उत्पन्न होता है वैसे ही घड़ा भी उत्पन्न होता है फूल उत्पन्न होने वाला है अब ये जो हमने समानता देखी ये उपनय की है जैसे कपड़ा ये तो उदाहरण में आया लेकिन जैसे ये उत्पन्न होता है ऐसे ये भी उत्पन्न होता है ये हो गया ओपन है और निगमन करेंगे तो इसलिए अभी निष्कर्ष है इसलिए या अतः उत्पन्न होने के कारण से घड़ा अनित्य हेतु का उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा को फिर से कथन कर देंगे ये निगमन करें निष्कर्ष थे अंत में फिर से उसको बता दें जैसे अभी अठहत्तरवा सूत्र के बारे में आप बता रहे थे कि आत्मा से अतिरिक्त सब कुछ नष्ट हो जाता है क्या इसमें आत्मा का नष्ट होना नहीं है कि आत्मा भी नष्ट रहेगा सब कुछ में ले सकते हैं लेना और तब फिर भोग अपवत की स्थिति नहीं हो पाएगी ले सकते हैं क्योंकि अगला वाला सूत्र है एवं शून्य अभी एवं शून्य अपी वो शून्य हो गया तो अगर सारा का सारा नष्ट होना ही ऊपर हम माने आत्मा के पे सहित आत्मा के सहित सारा नष्ट होना माने तो उसमें और शून्य वाले में कोई अंतर नहीं आएगा शून्य में वो स्वयं भी सब शून्य हो गया वो खुद ही नहीं रहा तो क्षिति कहते हैं हट जाने को छेदन को छेद को छेद मतलब जैसे जड़ को हमने निकाल लिया छेद कर दिया खींच के निकाल दिया अलग कर दिया ये भी हट गया ये भी हट गया ये भी हट गया तो किसी चीज से हटाया वो सारा का सारा प्रकृति भी हट गई ये हट गया ये हट गया सब चीजें सब अलग हो गई क्या इसका नाम मुक्ति है तो उस अर्थ में मैं वहां केवल लेना था कि केवल आत्मा बस बचा और कुछ नहीं परमात्मा भी नहीं कुछ भी नहीं क्या इसका नाम मुक्ति है इसका नाम मुक्ति नहीं और अगला शून्य आत्मा भी मतलब तो कुछ रहा ही नहीं खुद ही वो शून्य बन गया अभाव बन गया क्या इसका नाम मुक्ति है एवं शून्य में भी उसमें भी वही अपुष्या पता वाला दोष आएगा दोष दोनों में समान आएंगे इसमें और अधिक दोष आएगा अपुरुषार्थ रहेगा खुद ही नहीं रहा फिर किसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है शून्य होने के लिए ये सारी साधना किस लिए शून्य होने के लिए सूत्र अड़तालीस में वेद का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता है अपरुष्य होने से तो यहाँ इसे हम ये मान रहे हैं कि अपरुष्य तो है लेकिन ये कारण नहीं है एकमात्र है क्या रहता है इसका अर्थ अपौरुषेय तो है ये तो स्वीकार कर रहे अपौरुषेय होने से वो नित्य हो जाए ये बात नहीं है कारण नहीं है इसका बनना मतलब। नहीं नित्यता नहीं है उसकी कारण भी नहीं है और नित्यता भी नहीं है कारण तो तब हो जब पहले कारण नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वेद नित्य तो है लेकिन अपौरुषेय तो उसकी नित्यता का कारण नहीं है ऐसा तात्पर्य नहीं ले रहे हैं ये तो नित्यता का ही निषेध कर रहे हैं कारण का निषेध तो तब करें जब हम कार्य को मान रहे हो किसी चीज को कि धुआं है जल इसका कारण नहीं है यह है कारण का निषेध करना धुएं को नहीं नकार रहे धुएं को नहीं नकार रहे हम और जब धुएं को ही नकारेंगे कि धुआं ही नहीं है कि यहां पर अग्नि है इससे धुआं भी सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं है ऐसे यहां कहा अपुरुषार्थता अपौरुषेयत्व है इससे आप इसकी नित्यता सिद्ध नहीं कर सकते इससे नित्यता नहीं होती है यानी यहां ये व्याप्ति नहीं है कि जो जो अपौरुषेय होता है वह वह नित्य होता है ये व्याप्ति नहीं है यहां पर जो जो अपवित्र आत्म वेद का अनित्यत्व वो तो पहले ही कह दिया इन्होंने पैंतालीसवें सूत्र में न नित्यत्व वेदा नाम और उसके लिए हेतु दिया कार्यत्व श्रुत कार्य की श्रुति उत्पन्न होता है इसलिए नित्यत्व नहीं है हमारी दृष्टि से ईश्वर के ज्ञान में नित्यत्व का निषेध नहीं मानेंगे और फिर आगे का न पौरुषेयत्व वो पौरुषेयत्व भी नहीं दोनों का निषेध कर दिया तो नित्यता का तो निषेध कर ही दिया अब कोई कहने लगे कि अच्छा अपरुषयत्व तो आपने मान लिया तो अपरुषयत्व होने से फिर तो वो नित्य हो जाएगा उसको कह रहे हैं कि अपरुषय होने से आप इसको नित्य सिद्ध करने लगो तो ये नहीं होगा वो तो अनित्य ही है नित्य ही रहे ये कोई व्याप्ति नहीं है कि जो जो अपरुषय होता है वह नित्य होता है उसका निषेध कर अपरुषय को तो मान रहे हैं अपरुषय को मान रहे हैं और उसके साथ नित्यता का सिद्ध होना नहीं मान मना कर रहे हैं हाँ कोई ऐसा समझे क्योंकि अपविषेक का निषेध तो ऊपर छियालीसवें में ही कर दिया सैतालीसवें में भी निषेध किया ना मुक्ता मुक्त हो अयोग्य पाठ कोई बना ही नहीं सकता देखो इन दोनों से निषेध कर दिया अपौरुषेय का इसलिए अपौरुषेय है ये तो माना इन्होंने अब दो बातें मान ली थी पैंतालीस में निश्चित का निषेध किया और छियालीस सैंतालीस में पौरुषेयत्व का निषेध किया यानी अपौरुषेय और उधर अनिश्चित तो कोई कहने लगे ये दो बातें तो एक में नहीं कर सकते अगर आप इसको पौरुषेय मानते हो और फिर इसको अनित्य मानते हो तब तो हमारे को समझ में आता है कि किसी मनुष्य ने बनाया है और ये अनित्य मनुष्य के द्वारा जो जो बनाई गई चीज होगी वो अनित्य होगी ये तो समझ में आता है और जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया यानी किसी ने भी नहीं बनाया पुरुष ने नहीं बनाया तो वो तो नित्य होनी चाहिए तो अपरुषेय तो जब आप इसका मान रहे हो तो फिर तो नित्यता नहीं रहेगी अनित्यता नहीं रहेगी तो, तो नित्यता सिद्ध होने लगेगी अपौरुषेय मान रहे हैं तो इसकी नित्यता होने लगेगी अनित्यता खंडित हो जाएगी तो अपौरुषेयत्वाद नित्यत्म न अपौरुषेय होने से इसकी नित्यता सिद्ध होती हो ऐसी बात नहीं है अर्थात अपौरुषेय भी है और अनित्य भी है इसको एक बार आप स्पष्ट पीछे अंकुर का इन्होंने उदाहरण दिया अंकुर आदि वर्तन ठीक है अंकुर आदि भी अपरुषय होते हैं अपरुषय होते हैं और अनित्य देखे जाते हैं तो ये उदाहरण इसलिए दिया उस व्याप्ति को खंडित करने के लिए कि जो अपौरुषेय होते हुए भी अनित्य चीजें होती हैं तो जैसे अंकुर आदि होते हैं अपौरुषेय होते हुए अनित्य ऐसे ही दूसरी भी चीज हो सकती है वेद भी हो सकता है अब अगर कोई ये कहे ये अंकुर आदि में भी तो पुरुष का योग होता है कोई मनुष्य जैसे जोतता है बीज बोता है ऐसा कोई कहे तो तेषाम अपनी ये जो अंकुर आदि हैं इनमें भी यदि तेषाम अपनी तद योगे उसके अंदर अपरुषे अपरुषेत्व का योग हो तो भी नित्यत्व नहीं होता ये जो पीछे से कहा था तेषाम अपनी तद योगे तो दृष्ट बाधादि प्रसक्ति प्रत्यक्ष से इसका हमारे को विरोध आएगा प्रत्यक्ष से इसका विरोध आएगा अगर आप ये कहें कि इसमें तो पुरुष ही इसको उगा रहा है तो पुरुष तो नहीं उगाता है इसको कोई ये कहने लगे कि अंकुर आदि को आप अपविषय मान करके और उदाहरण दे रहे हो कि ये भी देखो अनित्य है कहने लगे कि ये अपविषय का है पेशा अभी उन अंकुर आदि में भी योग यानी कर्तृत्व का योग है कोई मनुष्य बोल रहा है उनको अविषयत्व है इसलिए वो तो अनित्य है अंकुर आदि अंकुर आदि क्यों अनित्य है उसमें तो पुरुष का योग हो रहा है मनुष्य का योग हो रहा है सिद्धांति ने यह उदाहरण दिया था कि अंकुर आदि अपौरुषेय है और अपौरुषेय होते हुए भी वो अनित्य है यही तो उदाहरण दिखाना था कि अपरुषेय वस्तु भी अपरुषेय कार्य भी अनित्य हो सकता है ये उदाहरण देना था ये उदाहरण दे दिया हमको राधिका अब दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं ये जो इसका अनित्यत्व है इसमें तो पौरुषयत्व है इसलिए अनित्यत्व है सिद्धांति ने उसको अपौरुष दिखाते हुए अनित्यत्व बताया था पूर्व पक्षी ये कहेगा कि इसमें तो मनुष्य का योग है इसलिए वो उसका अनित्यत्व है तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि तेषाम अभी उन अंकुर आदि में भी तद योग कर्तृत्व का पुरुष का योग होने पर भी दृष्ट बाधादि प्रसक्ति अंकुर आदि का उगने का काम पुरुष नहीं करता है दृष्ट की बाधा हो जाएगी आप ये मानेंगे कि पुरुष ही कर रहा है तो पुरुष तो अंकुर नहीं बनाता है पुरुष जो करता है वो तो अलग चीज करता है अंकुर आदि को उगाना तो वो नहीं करता है अगर आप उसमें पुरुष का योग मान करके कहने लगो ये तो पुरुष का योग है इसलिए अनित्य है और दृष्टांत को खंडित करने लगे और फिर वापस उसी बात पे है कि नहीं जो अपौरुषय होता है वो तो नित्य ही होता है ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहने लगे कि ये जो आप अंकुर आदि को आप पौरुषय को सिद्ध कर रहे हो यद्यपि उनका योग है उसमें एक अंश में वो वहां कार्यरत हैं हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें दृष्टि की बाधा प्रत्यक्ष की बाधा हो रही है कि अंकुर वास्तव में पुरुष नहीं बनाता है आप ये मान करके उसको सारा का सारा पौरुष ही मान रहे हो कि जैसे अंकुर को भी पुरुष ही बढ़ा रहा है ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध बात बोल रहे पुरुष का योग केवल बीज बोने पानी खाद आदि देने इतने में है बाकी अंकुर को पैदा करने में पुरुष का योग नहीं है प्रत्यक्ष से उसकी बाधा होती है कोई भी पुरुष अंकुर को बनाता हुआ नहीं देखा जाता है इसलिए अगर आप पुरुष का योग भी मानो तो भी अंकुर का बनना तो अपौरुषेय ही है और अंकुर अनित्य है तो जो अपौरुषेय होता है वो अनित्य भी हो सकता है अंकुर हो सकता है तो वित्त भी हो सकता है तो उदाहरण दिया हो गया सूत्र सौ तेईस हाँ। सूत्र तेईस स्थावर शरीर कौन से होते हैं अच्छे हैं सीधे तो नहीं लिखा लेकिन भाष्यकार ने लिखा है उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं ना तो स्थावर और जंगम दो भेद कर देते हैं जंगम का मतलब है जो गतिशील होते हैं चलायमान होते हैं और स्थावर जीव वो होते हैं जो स्थित रहते हैं जैसे कि पेड़ पौधे ये गति नहीं करते गमनागमन नहीं करते जैसे आप और हम कीड़े मकोड़े मछलियां मच्छर ये सब कर लेते हैं ऐसे ये करते तो ये स्थित रहते हैं इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है और जंगा मतलब जो गति करता है ये दो होते हैं स्थावर वैसे दूसरी जगह पर स्थावर शब्द से पर्वत आदि भी लिए जाते हैं जड़ वस्तु स्थावर मतलब जो स्थिर रहते हैं हमेशा स्थिरता के स्वभाव वाले तो पर्वत भी स्थिर रहता है एक सापेक्ष दृष्टि से ही लेना उसका कथन तो चट्टाने हैं पर्वत है वो स्थिर रहते हैं चलते नहीं है ये पेड़ पौधे जीवों के संदर्भ में लेंगे तो आप वो पेड़ पेड़ पौधों को ही लेंगे इसके अंदर इसमें हम पर्वत आदि को नहीं लेंगे आचार्य जी इसी सूत्र में अंत में एक श्लोक है अभिवादित ये इसका थोड़ा अर्थ बताएंगे पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या तीन सौ पिचहत्तर अभिवादित जो विप्र आशीषम न प्रयच्छति श्मशाने जायते वृक्षो वृद्ध कंक निषेविका विप्र कहते हैं ब्राह्मण को श्रेष्ठ व्यक्ति को अभिवादित और जिसका अभिवादन किया गया है ऐसा जो विप्र ब्राह्मण आशीषम न प्रयच्छति आशीर्वाद नहीं देता है जिसने अभिवादन किया उसको आशीर्वाद नहीं देता है या उसका उत्तर नहीं देता है ऐसा जो अभिवादन का जो उत्तर नहीं देता है ऐसा शमशाने जाए थे वृक्ष शमशान यानी तो जहां जलाते हैं यानी ऐसे निर्जन स्तर एक निंदित स्तर जैसा मानते हैं उसको तो वहां पर वो वृक्ष बन जाता है और कैसा वृद्ध कंस निषेधिता वृद्ध मतलब तो गिद्ध होता है गिद्ध भी मांस खाता है गिद्ध जहां पेड़ों पर बैठते हैं अब गांव के बाहर पहले बैठते ही थे आजकल कम हो गए हैं गिद्ध यार कुछ कुछ दिखते हैं गांव के बाहर पशु पक्षियों को पशुओं को छोड़ देते थे जो मर जाते थे गाय भैंस जो भी गिद्ध वगैरह रहते थे वो उसको खा लेते थे और वो गिद्ध वहां रहते भी हैं पेड़ों के बाहर ही रहते हैं और कंक भी वही ऐसा कोई पक्षी है जो मांस को खाता है तो उनके द्वारा निषेवित मतलब सेवित किया जाता है यानी वो शमशान में उगता है और उस पर बैठते कौन है गिद और पंख ऐसे ये पक्षी वहां पर उस पर बैठते हैं तो इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि ये भी शरीर है वृक्ष भी क्योंकि ये ब्राह्मण था इसने अभिवादन का उत्तर नहीं दिया जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया विप्र मतलब तो जो जानकार है और किसी के अभिवादन का उत्तर नहीं दे रहा है उसकी निंदा में है ये अब ये सीधा सीधा ऐसा होता है नहीं एक अलग बात है कि वो आगे ऐसा वृक्ष बन जाता है वृक्ष बनता है मतलब ये निम्न शरीर में गए निम्न योनि में गए उसकी निंदा है पाप लगता है इससे मनुस्मृति में भी आता है कि जो अभिवादन का उत्तर नहीं देता है तो उसको अभिवादन करने के लिए भी मना कर दिया ऐसा बहुत बार होता है हम अभिवादन नहीं देते बहुत से व्यक्तियों में देखा जाता है लोग अभिवादन करते रहते हैं और हम कुछ उत्तर नहीं देते हैं नमस्ते नहीं करते या हाथ से संकेत नहीं करते सिर से नहीं करते वाणी से कुछ नहीं बोलते तो, तो प्रणाम करते रहते हैं वो अपनी जगह स्थित रहते हैं कुछ और बोल रहे होते हैं कुछ और करते हैं वो अशिष्ट है उसकी निंदा की जा रही है तो यह अभिवादन करता है आपकी जानकारी में आ गया कि मेरे को अभिवादन कर रहा है तो उसका उत्तर अवश्य जाना चाहिए आशीर्वाद दे सकते हैं आशीर्वाद देंगे समान में उत्तर देते हैं तो उत्तर देंगे तो जो भी बोलना है एक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम जो भी उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है तो सबके लिए लगेगा कोई भी अभिवादन करता है तो हमें उसका उत्तर तो देना ही चाहिए और हम अभिवादन कर रहे हैं और सामने वाला कुछ भी उत्तर ना दे तो कैसा प्रतीत होता है अच्छा नहीं होता ये अशिष्टता है हमें पता नहीं लगा कि किसी ने अभिवादन किया है तो एक वो अनजाने की बात है कि किसी ने अभिवादन कर दिया हम इधर बात कर रहे हैं उसने सीधे सीधे पहले संकेत नहीं किया हमारे को अभिमुख नहीं किया अभिवादन में पहले अभिमुख करते हैं सामने वाले को पता लगना चाहिए कि मैं यहां हूं तब अभिवादन किया जाता है संबोधित करके अभिवादन करते हैं तभी तो उत्तर देगा अब किसी ने वैसे ही कोई इधर बात कर रहा है कुछ पुस्तक पढ़ रहा है कुछ और, आके अभिवादन कर दिया उसको दिखाई नहीं दिया अब ये दोष नहीं बनेगा लेकिन पता होते हुए जानते हुए भी कुछ भी नहीं किया ये दोष ही नहीं बनेगा लेकिन मूल उद्देश्य है कि वृक्ष में जीव होते हैं वो बताने के लिए धन्यवाद दादा जी एक तारा सूत्र में कौन सा एक सौ सत्रह एक सौ सत्रह जी इसमें कुछ कोड कोड वर्ड से लग रहे हैं कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में ये क्या है ये तो छपाई का दोष है अच्छा। उसमें फॉन्ट अलग हो जाते हैं अलग चीज को ये सभी जत्वम आना चाहिए शब्द यहां पर कोष्ठक में आना चाहिए सभी जत्वम जैसे द्वयो हो कोष्ठक में है ना ये अलग तरह का कोष्ठक होता है ना बड़ा वाला उसके बाद पहली दो अवस्थाओं की ब्रह्म रूपता में अब आना चाहिए वो सभी जत्वम अब उसको खोला बीज क्लेश कर्म वासना आदि बंद के बीज अर्थात कारण का बने रहना होती है अन्य से अग्नि हो गया तो यहाँ सभी जत्वम शब्द तो आना चाहिए तो अच्छा दो अलग अलग है किताबें हाँ, हाँ तो ये वो कंप्यूटर का ये दोष है मतलब फॉन्ट में अलग हो गया ना तो बदला होगा उन्होंने तो बदलने में ये अक्षर आगे वो उसके पास फॉन्ट नहीं होंगे कंप्यूटर वाले के पास तो जो दूसरा मेरे इंग्लिश रोमन के शब्द बोलिए जी कल ये जो सूत्र है जिसमें वृक्षों में जीव है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है तो उसके आधार पर यदि हम वृक्षों में जीव मानते हैं और मनुष्य अन्य प्राणी जो है उनका भी कहीं ना कहीं मांसाहार के रूप में सेवन करता है वहां हम पाप की भावना रखते हैं तो इसका निराकरण कैसे करेंगे यहाँ संगति कैसे बिठाएंगे क्योंकि एक उनको समझाया बताया जाता है कि मांसाहार यदि हम करते हैं तो क्योंकि उसमें जीव है उसको कष्ट होता है तो इससे पाप भी लगता है और वृक्ष में हम जीव नहीं मानते हैं और वहां पर हम और अन्न औषधियों को और फल शाक आदि को खाते हैं तो वहां पर पाप नहीं लगता है ऐसा जो हम कहते हैं तो इसकी संगति यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहिए ये मूलतः तथ्ययुक्त तर्क नहीं है मांसाहार छोड़ने के पीछे जो ये कह रहे थे हैं ये खंडित होने वाला इस पर चर्चा भी चली थी उस समय इसको ये प्रश्न भी आया था इसका उत्तर भी रखा था आप में से कौन बताएंगे बोलिए तो प्रणाम आचार्य प्रसंग यही चला था जिसने बताया था कि उत्तर बताइए सिर्फ ईश्वर ने जिस चीज की विधि बता रखी है भोग करने के लिए करने के लिए उसमें कोई दोष नहीं जो हमारे लिए विधान है ईश्वर के द्वारा उसी ने ये सृष्टि बनाई है और उसने कुछ विधान कर रखे हैं भोजन नियत कर रखे हैं ये ये चीज खा सकते हैं ये ये चीज खा सकते हैं तो मनुष्यों के लिए मांसाहार का विधान नहीं है शाकाहार का ही विधान है तो उसकी आज्ञा के विपरीत हम कर रहे हैं इसलिए ये दंड का कारण है हमारे लिए वो नहीं है जैसे अन्य प्राणी एक दूसरे को खाते हैं तो वे खूब प्रचलित है खूब खाते ही हैं सारे प्राणी बहुत अधिक मांसाहार का प्रयोग करते हैं समुद्र में सारा यही चलता होता है कुछ ही मछलियां होती हैं कुछ ही होते हैं जो घास पात को खाते हैं समुद्र की फिर बाकी तो सब पात की सारी श्रृंखला एक दूसरे को खाने से ही होती है ऐसा ही पृथ्वी के ऊपर भी है तो ये तो सारी भोगियोनियां हैं इनको तो पता नहीं होता है वैसे तो केवल दूसरे जीव को का उपयोग अपने लिए ले लेना वो अपने आप में दोष कर नहीं है दूसरे जीवों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा उसके बिना कोई व्यवस्था ही नहीं है इसलिए ये जो तर्क दे दिया जाता है वो एक तात्कालिक तर्क है स्थूल तर्क है बात को समझाने के लिए हाँ, या तो वो ये कहते हैं कि वृक्षों में जीव ही नहीं है एक ये समाधान मिलेगा उनको पर उसमें एक गलत तथ्य पे चले जाएंगे वो विज्ञान से भी सिद्ध होता है इनमें संवेदनाएं हैं बहुत सिद्ध हो चुका है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं ये सब प्रमाण आ ही रहे हैं और भी जो अभी पीछे अभिवादन वाला भी दिया अभिवाद का वित्त का वो भी है और भी बहुत सारे हैं तो शास्त्र से भी सिद्ध है और आधुनिक ढंग से भी सिद्ध है कि इनमें चेतना है संवेदना है तो दुख का अनुभव करते हैं प्रीति अप्रीति का ये भी अनुभव करते हैं अंदर से तो ऐसा सोच लेना आपने केवल उत्तर देने के लिए कि इनमें हम जीवी नहीं मानेंगे ठीक गलत हो तो जीव तो मानना ही अब हम अपने पिछले तर्क को कैसे सिद्ध करेंगे उस तर्क को ही हटाना पड़ेगा वो तर्क नहीं देना चाहिए कि जीव की हिंसा होती है या तो ज्यादा से ज्यादा हम ये दे सकते हैं कि भाई बाहर उनमें तड़पन होती है जब उनको मारते हैं तो तड़पन होती है वृक्ष वनस्पतियों में तड़पन नहीं दिखाई देती बाहर से बाह्य बुद्धि नहीं होती अंदर कुछ भी हो बाहर नहीं होता है बाहर से हम उसको तड़पते हुए नहीं देखते हैं ये कुछ एक सीमा पे जाकर के कोई उत्तर दे देता है जो सजीव मानते हैं वृक्षों को वो ऐसे भी उत्तर दे देते हैं तो उसमें फिर प्रतिप्रश्न कोई कर देता है बोले अच्छा कोई मूर्छित हो तो फिर तो मारा जा सकता है क्योंकि वो तो तड़पेगा नहीं किसी को पहले मूर्छा का इंजेक्शन लगा दिया और फिर मार दिया तो कोई मूर्छित पड़ा हुआ है तो मार दिया उसको कष्ट नहीं हुआ तब तो कोई दोष नहीं होना चाहिए ये फिर वितर आएगा इसको कैसे बचाएंगे तो अंतिम उपाय यही है केवल एक ही है चूंकि ईश्वर ने इसका विधान हमारे लिए नहीं किया है अभिहित का सेवन ये हमारे लिए पाप है अंतिम उत्तर तो ये है अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हम आधुनिक दृष्टि से शरीर रचना की दृष्टि से बोलते हैं जो कि और सभी शाकाहार की समर्थक बोलते हैं कि मनुष्य शरीर की रचना कैसी है उसके नखून कैसे हैं उसके दांत कैसे हैं उसकी आंतें कैसी हैं ये शाकाहारियों जैसी मांसाहारियों जैसी नहीं है मांसाहारियों के नखून अलग होते हैं हमारे नखून अलग तरह के मांसाहारियों के दांत अलग तरह के होते हैं पशुओं के स्तनधारियों की बात है पक्षी और वो तो अलग हो गए थे उनके तो दांत ही नहीं होते स्तनधारी जो है उनमें मांसाहारियों के दांत अलग तरह के होते तीखे होते हैं मांस को पकड़ने खाने चीरने के लिए हमारे नहीं है ऐसे और आते मांसाहारियों की छोटी होती है और मांसाहारी सब पशुओं की हमारी यहां बहुत लंबी है शाकाहारियों वाली है इसलिए भी और मांसाहारियों के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जरायु होते हैं वैसे जरायु जो होते हैं गर्भ से निकलते हैं उनकी बात है उनकी आंखें नहीं खुलती हैं एकदम से बंद रहती हैं जो कुत्ते के पिल्ले हैं और हैं इनकी कई दिनों तक आंखें बंद रहती हैं झिल्ली सी रहती है देख नहीं सकते हो और शाकाहारियों के बच्चे गाय भैंस के बच्चे बकरी के बच्चे पैदा होते ही आंखें उसकी खुली भी रहती हैं देख सकते हैं वो झिल्ली नहीं होती मनुष्य के बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो आंखें उनकी खुली भी रहती हैं झिल्ली नहीं होती कई दिनों तक देख नहीं सकते ऐसा नहीं होता जन्म लेते ही वो देख सकते हैं तो इन रचनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य शाकाहारी ये हम तर्क युग की गुहा से आधुनिक विज्ञान शरीर रचना अन्य प्राणियों से समानता विशेषता इसको देखते हुए भी हम कर सकते हैं पर अंतिम रूप से ये भी नहीं बनते पुष्टि करते हैं लेकिन सामान्य रूप से नहीं बनते बहुत बिल्कुल अंतिम रूप से नहीं बन पाते हैं दृढ़ रूप में इसमें भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर कोई कर सकता है और एक तर्क दे सकते हैं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल मांस खाता हो केवल मांस खा सकता हो मनुष्य मांसाहारी है तो केवल मांस तो नहीं खाता तो केवल मांस पर रह नहीं सकते दूसरे प्राणी केवल मांस पर रह सकते हैं यदि मांसाहारी है तो पूरे मांसाहारी बन के बताओ इसलिए कई जने कहते हैं कि अगर तुम आप मांस खाते हो बोले शेर है तो फिर शेर की तरह रह करके बताओ कि केवल मांस खाओ शाक को मत खाओ बिल्कुल और या फिर हाथी की तरह से बन जाओ केवल शाक को खाओ वो कुछ कहते हैं कि मनुष्य तो दोनों प्रकार का है शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है मांस भी खा सकता है शाक भी खा सकता है अब ये तो हम देख ही रहे हैं मांस को तो खाया ही जाता है मांस को खाने से उनका जीवन भी चलता है पोषण भी होता है बहुत कुछ होता है ये भी देख रहे हैं तो तंत्र कुछ इस तरह से बना रखा है परमात्मा ने कि अपवाद रूप में इस जीवन को चलाने के लिए कभी उससे भी हमारा काम चल जाए मनुष्य खा लेता है जिसकी आदत नहीं है वो तो मांस खा ही नहीं सकता है जैसे गाय नहीं खा सकती ऐसे हम भी नहीं खा सकते लेकिन पाचन आदि तो हो ही जाता है उसका अंदर शोषण भी हो जाता है चीजें तो तत्व तो, तो है ही उसमें वो मिल जाते हैं जल्दी मिल जाते हैं अधिक मिल जाते हैं ये सब चीजें कही जाती हैं तो इसमें पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क खूब दोनों तरफ से चलते हैं अंतिम तो केवल वो ही बनेगा कि ईश्वर का विधान यह है इसमें एक जगह व्यंग किया जाता है छूट दिए मांस खाने की मांस खाने की शुरू की है मैं विपरीत बोल रहा हूं इस बात से नहीं पहले सुनो तो आपातकाल में नहीं यदि आपको मांस खाना है तो चलो खा लो लेकिन अपना मांस काट के खाओ भुजा से काट लो अपनी जान से काट लो खूब अच्छी तरह से काटो खूब पलो भूनो जो उसको देसी <laughs> देसी घी में बनाना है देसी घी में बनाओ उसको जैसे भी करना है खूब अच्छी तरह करके फिर खाओ इसकी छूट देने थे खाएगा कोई खाएगा कोई कभी नहीं खाएगा ये छूट भी नहीं है ये व्यंग है ये निषेध किया जा रहा है वेद की तरफ से विहित नहीं है यही बनेगा अंतिम बाकी सारे तर्क इधर उधर होंगे इधर उधर बात करेंगे लीजिए धन्यवाद तो, पूज्य आचार्य जी ये तो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि ये बात ठीक है या गलत है पर कुछ ऐसा सुनने में आया कि कभी अकाल पड़ा हुआ किसी जमाने में और किसी ऋषि का नाम आता है अब वो ऋषि इतना व्याकुल हो गया उसने उसके मतलब ये है कि प्राण भी बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उस समय उस ऋषि ने भी कहीं से कोई मांस जो है वो चुरा कर वो भी और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कुछ ऐसी श्रोती है ये पता नहीं ये ठीक है या गलत है मैंने तो मेरे को सुनने में नहीं हो सकता कहीं तो ऐसा लिखा जैसे हमारे परमात्मा विकल्प रखता है सांस नाक से लेना चाहिए मुंह से लेना चाहिए नाक से लेना चाहिए तो परमात्मा ने जोड़ क्यों दिया है पीछे आंख से और मुंह से अंदर वो श्वास नदी जुड़ी हुई है ना अंदर एक अगर परमात्मा यही नियम रखते हैं कि बस केवल नाक से ही लेना चाहिए ठीक है नाक से ही लेना चाहिए तो नाक से ही सीधी अलग नदी और फेफड़ों तक चली जाती ठीक है और उसमें कभी नाक रुक जाती तो पूरी वो नाक भी तो बना रखी ये तो एक भी तो बना सकता था रखा था लेकिन ये बंद हो गई है तो ये चल रही है ये है तो ये है अब उसके अलावा एक मुख से भी ऐसा जोड़ रखा है अब ये विकल्प है क्योंकि श्वास हम हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है नहीं तो ये तो आकस्मिक है व्यवस्था होती है ना वैकल्पिक व्यवस्था वो बनी हुई है ये नाक से नहीं ले सकते मुख से कभी ऐसी थकान है बहुत जोर से भाग रहे हैं काम कर रहे हैं नाक से लिया ही नहीं जा सकता है उतना मुंह से भी ले सकते मुख से भी ले सकते जीवन को बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अब उस दृष्टि से वो बात को रख रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति आ गई और उन्होंने उसको कर लिया तो जितने इसमें पापी है ठीक है और ये मिश्रित कर्म मानते हुए कि भाई जीवन लेकिन जब हमारे पास सारा उपलब्ध है शाकाहार सब चीजें उपलब्ध हैं और फिर भी हम केवल स्वाद के वशीभूत होकर के और मांस का सेवन करें शरीर को अधिक पुष्ट करने के लिए या जो भी कुछ के लिए वो फिर निश्चित श्रेणी में जाएगा अब अपवाद रूप में है कि भाई मांस खाने से भी हमारे को पोषण तो चला ही जाता है नहीं तो गाय भैंसों को भी चला जाता है बकरियों को भी चला जाता है अब यदि घास पात खाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं बीच बीच में खा लेती है गायों को पता रहता है कि छाट छाट के खाती है होते हैं ना छोटे मोटे हो सकते हैं नहीं हो सकता है और आजकल जो आधुनिक पशु आहार आते हैं उसमें गाय को प्रोटीन भी दिया जाता है उसमें प्रोटीन कहां से मांस के टुकड़े चीजी के उसमें डाले हुए होते हैं वो तो दिखने में हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि सूखा सा है ये उसमें जानता पदार्थ भी डाले हुए होते हैं लेकिन उनको तो ये होता नहीं है कि शाकाहारी मांस और गाय को भी पता नहीं लगता है गाय को बकरी को जो ये पशु आहार लेते हैं तो उसमें कईयों के अंदर ऐसा डालते हैं कि सुना जाता है वो तो खा जाते हैं वो तो बांटे की तरह जैसे खल वगैरह को भिगो करके खिला देते हैं तो उसकी जगह तो वो भी भिगो देते हैं और वो खाती है शौक से उसमें अनाज भी होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्रोटीन भी डालते हैं दालें भी डालते हैं तो उसमें जो बचा कुचा मांस होता है जैसे खराब वाला कुछ भी नहीं होता उसी को सुखा लेते हैं अतिरिक्त मांस है मछलियों का चूरा है ये सब चीजें भी वो प्रोटीन के रूप में घटकों के रूप में मिला देते हैं डाल देते हैं और गाय भी खा लेती है उनको भी हो जाता है तो इस रूप में तो वो भी चला जाता है कैल्शियम डालना है आप कैल्शियम को मान लो पशुओं से ले लिया हड्डियों से लिया लेते ही हैं कैल्शियम के कैप्सूल भी आते हैं वो भी हड्डियों से बनते हैं बहुत हम तो कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आ रहे हैं हड्डियों से जमतो है एक शंख भस्म और शुक्ति भस्म मुक्ता शुक्ति प्रवाल पिष्टि ये जो आयुर्वेद की औषधियां हैं ये भी तो कैल्शियम ये योग हैं सारे ये भी किसी जीव के खोल ही तो थे वो जीव मर गए या मार दिए गए अब उसके खोल से भस्म बना लिए और हम खा रहे हैं तो वो दिखने में तो हमारे को चूर्ण लग रहा है ये तो ये है तो जानता हूं ये आया तो जंतु से ही है वो तो ऐसे बहुत सारी चीजें अब क्या क्या बन के आती हैं और भी चीजें प्रोटीन होते हैं और चीजें होती हैं वो जंतु से आते हैं ये बहुत सारी औषधियां आती हैं वो जंतु पदार्थों से आती हैं तो वो भी हम ले लेते हैं और हमारे को लग भी जाती है शरीर में पशुओं में भी लग जाती है हमारे में भी लग जाती है ये वैकल्पिक व्यवस्था इस रूप में हिली विद्यमान है क्योंकि वो मांस मांस के रूप में नहीं है वो मिलजुल करके जैसा आया वो खाली है गाय भी नहीं पहचान सकती उसको अलग से मांस का टुकड़ा होगा तो गाय नहीं खाएगी पता है वो भी नहीं खाता है मांस को शाकाहारी है लेकिन एक घटना सुनी जाती है खच्चर वगैरह जो होते हैं पहाड़ों पे जाते हैं पर्वतारोही तूफान आ जाता है नीचे से संबंध कट गया खाने पीने को जो है वो भी समाप्त तो कैसे जिए तो बहुत पहले मैंने कहानी सुनी थी वास्तविक जैसे ही उन्होंने ऐसे ही लिख रखा था वास्तविक घटना होगी वो देख रहे वो भी अपना जीवन काट रहे कई खच्चर थे गधे जैसे घोड़े जैसे खच्चर थे कोई जल्दी चला जाता है कोई देरी देरी से जाता है कोई जल्दी कमजोर होकर गिर जाता है उठना बैठना भी नहीं है अब भूख लग रही थी तो दूसरे खच्चर ने उस पहले वाले एक खच्चर जो मर गया था या तो बहुत कमजोर पड़ा था उसको मार के खा लिया और कुछ दिन जीवन बचा लिया अब इससे ये तो नहीं सिद्ध होता कि भाई खच्चर मांसाहारी है ये अपवाद रूप स्थितियां हैं आकस्मिक जीवन बचाने के लिए और इसमें भी बहुतों के अंदर भी विचार आता है कि इसको हम उचित माने या ना माने ऐसी स्थिति में जीवन रक्षा के लिए आपत्काल के लिए हम खाएं या ना खाएं इसमें फिर दृष्टि भेद है कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा फिर कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में तो दिया जा सकता है ठीक है जो तो पाप लगेगा लगेगा थोड़ा जीवन बच जाएगा एक दो दिन बच गया तो फिर फिर तो सहायता आ जाएगी तो लंबा जीवन जी सकते हैं जैसे कि दुर्घटना के बाद में शीघ्रता से अगर चिकित्सालय पहुंच जाता है बच जाता है तो वर्षों जीता रहता है और वो उस काल को अगर वो नहीं जीवित रह पाता है सहायता नहीं पहुंचती तो गया जीवन आगे के सारे वर्ष भी गए थोड़े से दिन जीवित रहने की बात होती है कुछ काल को निकालने की बात होती है फिर सहायता आ सकती है अब ये व्यक्ति के ऊपर विवेक पर निर्भर करता है उसकी अंतरात्मा क्या गवाह देती है उसके आधार पर ये भेद हो सकता है तो कुछ लोग तो बिल्कुल ये कहेंगे मर जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं ऐसा पाप नहीं करेंगे उसकी दृष्टि में ये इतना बड़ा पाप नहीं है ठीक है दोष लगेगा वो मैं उसका फल भी भोग लूंगा लेकिन अभी जीवन बचाने के लिए ऐसा करना है तो वो करते हैं वो जीवन बचाते हैं उसका भी भोग लूंगा अब ये विवेक के ऊपर अलग अलग अंतरात्मा की जिसकी जो गवाही है उस तरह से चलता है तो ये विकल्प तो है हमारे शरीर में कि मांस खा लेते हैं अंडा खा लेते हैं उससे हमारा जीवन चलता है तो, तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है इतने लोग खा ही जाएंगे आचार्य जी अभी आपने जो वेद का उदाहरण दिया है वो थोड़ा बताएंगे कौन से कहाँ पे है कौन से वेद का अंतर है थोड़ा अगर पता स्मरण है ओम आचार्य जी अभी बता रहे थे कि जैसे जीव जंतुओं को बेहोश करके मारा जाए तो क्या ये कुतर्क नहीं है है ना कुतर्क वो कुतर्क करेगा यदि हमने ये कहा है साकार की पुष्टि में हम भी तो एक तरह से कुतर्क ही कर रहे हैं जब किसी ने कहा कि वृक्षों में भी जीव होता है तो आप उसको भी मारते हो तो वो भी तो हत्या है तो कहे कि नहीं उसमें तो संवेदना नहीं दिखाई देती इसलिए हम उसको खा लेते हैं और जो पशु पक्षी हैं उनको मारते हैं तो वो तो तड़पते हैं इसलिए इनको नहीं खाते ये किसी ने तर्क रखा ये तो उचित है अनुचित है तर्क तो ये तो तथ्य है कि ये तड़पन दिखाई नहीं देती उनमें तड़पन दिखाई देती है वो भागते हैं ये भाग नहीं सकते लेकिन अगर किसी ने ये रखा तो दूसरा ये कह सकता है ना कि अगर आपका यही हेतु है कि बाहर से जब संवेदना पीड़ा दिखाई ना दे वहां पर दोष नहीं बनता है और जहां संवेदना दिखाई दे वहां दोष बनता है ये व्याप्ति बन रही है ना जब इसने ये कहा कि वृक्ष में बाह्य संवेदना नहीं है इसलिए वो वहां कोई दोष नहीं है अर्थात जहां जहां बाह्य संवेदना नहीं है वहां उसको खाने पर जीव होने पर भी दोष नहीं है और जहां बाह्य संवेदना दिखाई दे रही है उसको मारने पर दोष है ठीक है यही व्याप्ति बन रही है ना तो इसके आधार पर उसी व्याप्ति का प्रयोग वो करेगा जो मर चुके हैं उनको तो खाया जा सकता है अपने आप जो मर गए हैं स्वाभाविक मृत्यु मर गए हैं भूकंप से मर गए हैं और किसी तरह मर गए हैं अपने आप मरे हुए हैं गर्मी से मर गए हैं प्यासे मर गए हैं भूखे मर गए हैं अब मरे हुए को ले लेंगे अब तो उसको काटने में कोई तड़पन नहीं हो तो मर चुका है एक तो उसकी स्वीकृति ले लेंगे वो इसके आधार पर और और अधिक करेंगे तो उसको बेहोश करके तो बिना कर पाए हम उसको ले रहे हैं तो दोष नहीं लगना चाहिए तो है कुतर्क लेकिन पीछे भी तो ऐसा ही किया जा रहा है शाकाहारी ने भी तो इसी तरह की बात रखी है हम केवल ये कह के नहीं हटा सकते कि तो आप कुतर्क कर रहे हैं फिर हमें बताना पड़ेगा क्यों कुतर्क है ये सिद्ध करो कि कुतर्क क्यों है तो कहेगा जो हेतु आपने दिया था व्याप्ति बनाई थी मैं तो उसी का प्रयोग कर रहा हूं तो आपकी व्याप्ति खंडित हो रही है तो मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि ये कुतर्क है ये बताओ क्यों कुतर्क है क्यों कुतर्क है सिद्ध बताओ सिद्ध करो आप बताओ कुछ बता सकते हो कुतर्क तो बोल दिया ये आरोप लगा दिया कि कुतर के क्यों है ये भी तो बताना पड़ेगा क्योंकि जैसे वो कुतर्क इसलिए है कि जैसे वृक्ष की जो अवस्था होती है वैसी अवस्था जिसको इंजेक्शन देकर के मारा जाता है उसकी अवस्था नहीं होती है अगर तो, वैसी बना दी जाए नहीं कैसी नहीं होती है अंतर बताओ उसमें जैसे वो जीव जो है वो बेहोश अवस्था में तो नहीं है बेहोश करके मारा गया बेहोश करके मारा गया लेकिन वृक्ष तो सदा ही वो तो उसी अवस्था में रहता है भले ही सदा रहता हो अंतर इतना है कि एक पहले से और एक हमने कर दिया है है तो दोनों बेहोश हेतु हमने ये दिया था शाकाहारी में कि बाहर की तड़पन नहीं दिखती है तो दोष नहीं है कहते तो बाहर की तड़पन तो यहां भी नहीं दिखेगी वो तो उसी हेतु का प्रयोग करना है जो शाकाहारी ने दिया था वास्तव में शाकाहारी का ये हेतु गलत है हाँ, सामान्य रूप से ये बहुत प्रचलन में दिखता है कि देखो अच्छा लगता है क्या शाकाहार के बारे में बहुत वीडियो भी बने हुए रहते हैं दिखाए जाते हैं उसमें ये सब चीजें दिखाते हैं कि देखो इसको सुअर को काट रहे हैं कितना तरफ रहा है गाय भैंस को काट रहे हैं बकरे को काट रहे हैं मछलियों को निकाल रहे हैं कितनी तरफ नहीं है ये और पेड़ को तोड़ते हैं करते हैं देखो कुछ भी करता नहीं ये प्रस्तुत करते हैं खूब करते हैं लेकिन ये बस एक स्तर पर ही है वहां तक सामान्य रूप से किसी को इतना समझ में आ जाता है उससे शाकाहारी है लेकिन आगे कोई अपना दिमाग लगाएगा सोचेगा प्रश्न करेगा तो अब ये उत्तर काम नहीं करेगा एक सीमा तक काम करेगा जो उसके आगे विचार नहीं करता और इतने से संतुष्ट है वहां काम नहीं करेगा वहां तो काम कर जाएगा उसके आगे कोई सोचता है बोलता है तब व्यर्थ हो जाएगा अंतिम तो बस वही बनेगा ईश्वर का विधान बोलिए जी तो में है कि अगर जलाने की व्यवस्था ना हो तो नदी में फेंक दो और नदी में ना फेंके तो किसी मांसाहारी को दे दो तो मांसाहारी से क्या प्रयोजन किसी मनुष्य हो या किसी पशु मांसाहारी पशु से इत्यादि वो मांसाहारी तो पशुओं का होगा उस तरह से नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं लेकिन वहां उतरे कि कोई अगर मांसाहारी खा भी ले तो पाप नहीं लेकिन उस, उसका उसमें हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी ये साथ में वहां लिखा हुआ है यूं पाप नहीं लगेगा यूं पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो मर गया है अब मान लीजिए राजा को भी पशुओं को मारने का अधिकार है ऐसे पशुओं को जो कि नागरिकों की हानि कर रहे हैं अति हो रही है बाधा हो रही है तो उसका विधान है और उसको पाप नहीं माना जाता है अब उन पशुओं को मारा अब मार के एक तो मारना तो है ही उनको अब एक है कि एक को फेंक दिया और अन्य पशु उसको खा लें देख है कि उसके मांस का मनुष्य प्रयोग कर लें तो जो मर गए हैं अपने आप या ऐसे विहित रूप से मारे गए हैं उनका क्या मांस प्रयोग किया जा सकता है उसमें महर्षि ने दिखाया कि वो खा तो लेगा यूं तो पाप नहीं लगेगा लेकिन उसका स्वभाव हिंसक हो जाएगा और वो स्वभाव हिंसक का मतलब क्या है वहां पर ये नहीं है कि मांस खाने वाला फिर बहुत गुस्सा करेगा क्रोधित होगा इस रूप में नहीं वो भी प्रभाव आ जाता है मांस खाने वालों में लेकिन कितने मांस खाने वाले ऐसे हैं कि शाकाहारियों से ज्यादा शांत रहते हैं शाकाहारियों से ज्यादा मृदु व्यवहार करते हैं वाणी उनकी बहुत मृदु होती है बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं खाते मांस हैं खूब लेकिन इतने शिष्ट होते हैं बिल्कुल भी दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे कुछ जोर से नहीं बोलेंगे गाली नहीं देंगे अपमानित नहीं करेंगे तो शाकाहारी तो करते हैं तो वो व्यभिचार देखा जाता है वहां पर तो यहां महर्षि का तात्पर्य यह लेना चाहिए कि जो ऐसे मरे हुए प्राणियों को खाएगा उसका उसकी जीत पर स्वाद लगेगा रस आएगा तो अब वो मार करके भी खाएगा ये मार करके खाएगा ये हिंसक प्रवृत्ति उसमें होगी जो मरे हुए को खा रहा है तो वो मार के भी खाएगा लग पड़ेगी उसको तो इसलिए महसी का तो वही तात्पर्य है कि मरे हुए प्राणी को भी अपने आप भी हो और कोई कहे कि इसमें तो पाप नहीं लगेगा बोले फिर भी नहीं खाना चाहिए और तात्पर्य महसी का ये है वो खाने का विधान नहीं कर रहे ऐसी स्थिति में भी खाने का निषेध कर रहे हैं तो ठीक है उसको डाल दिया पशु पक्षी खाने में जिनका अपना आहार इस तरह का बना रखा है परमात्मा ने अथवा तो आप उसका कोई अंतिम क्रिया कर दीजिए कोई नहीं खाना है कुछ ऐसी स्थिति है तो उसको गड्ढे में गाड़ देते हैं जलाना है जला दीजिए कुछ और जो भी है तो प्रकृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं निपटा की वो हो जाएगा उसमें हो गया अन्य कोई तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं तो पिछली कक्षा में पेड़ पौधे वनस्पतियों का उल्लेख किया गया था और कहा था इसमें भी भोक्तृत्व है और ये भोगायतन है भोग के आधार है और उसमें भोक्ता आत्मा चेतन भी है स्मृति ग्रंथों से शास्त्रों से भी ये पता लगता है अब कोई ये प्रश्न करे जब उनका भोगायतन है उनका भोक्तृत्व है फिर तो उनका कर्म करने का अधिकार भी बन जाता है तो आत्मा है शरीर है साधन है इंद्रियां हैं तो कर्म करने का अधिकार भी उनका बन जाना चाहिए उसके लिए स्पष्टीकरण किया जा रहा है चौबीसवां सूत्र बोलिए न देह मात्रतः कर्माधिकारित्व वैशिष्ट्य छूटे शरीर प्राप्त होने मात्र से कर्म का अधिकार नहीं मिल जाता तो पेड़ पौधे हैं उनका शरीर है भोगायतन है इतने मात्र से उनका कर्म का भी अधिकार हो जाए यह आवश्यक नहीं ये कोई नियम नहीं है कि शरीर हिलाए तो वो कर्म भी कर सके ये आपत्ति आ सकती है जब शरीर है चेतन है भोगायतन है तो इनको कर्म करने के लिए ईश्वर ने व्यवस्था क्यों नहीं की है ये भी तो कर्म कर सकते हैं जैसे और लोग गतिविधि करते हैं तो शरीर मिलने मात्र से कर्म का अधिकार भी मिल जाता हो ये नहीं है भोग का तो अधिकार है भोगायतन तो है लेकिन कर्म का अधिकार भी मिले ये कोई नियम नहीं है कि जब जब शरीर मिलेगा तब तक कर्म करने का अधिकार भी होगा ये कोई नियम नहीं है क्यों वैशिष्ट की श्रुति होने से कर्म करने का अधिकार विशिष्ट लोगों के लिए ही ने वे कर्माणी जिजी विशेष छतम समा सौ वर्ष तक कर्म करते हुए दिए ये किसके लिए उपदेश है मात्र मनुष्य के लिए औरों के लिए नहीं है और अपने से जो कर्म करते हैं पशु पक्षी वो एक स्वाभाविक कर्म उनके होते रहते हैं लेकिन विशिष्ट कर्मों को करना जिससे कर्माशय बने जिससे उनकी आत्मिक दृष्टि से उन्नति हो मुक्ति की तरफ बढ़े जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़े ऐसे कोई कर्म उनके उनको वहां कोई अधिकार नहीं होता तो खासतौर से तो पेड़ के लिए पेड़ पौधों के लिए यहां पर कहा कि उनको कर्मत्व का अधिकार नहीं होता बस केवल भोग भोग होते हैं वो और यही बात और पशु पक्षियों में भी घटेगी मनुष्य को छोड़कर तो कर्म का अधिकार वैशिष्ट की श्रुति केवल मनुष्य के लिए है मनुष्य ही नए कर्म कर सकता है उसी का कर्माशय बन सकता है और किसी का नहीं बनेगा और जगह कर्माशय घटेगा केवल बनेगा नहीं और मनुष्य शरीर में कर्माशय बनेगा भी और घटेगा भी जितना हम भोग रहे हैं अच्छा बुरा सुख दुख अपनी अज्ञानता से जो भोग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए बाकी जितना हम भोग रहे हैं दुख अन्यों के कारण से उतना हमारा कर्माशय कम हो जाएगा और जितना हम सुख भोग रहे हैं बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक साधनों का उपयोग कर रहे हैं उतना उतना हमारा पुण्य घट जाएगा तो कर्माशय का घटना तो सब शरीरों में है क्योंकि ये शरीर भोगायतन तो अवश्य है इनमें भोग हो रहा है भोक्तृत्व है आत्मा का और भोग हो रहा है तो कर्म का क्षय भी हो रहा है जैसा जैसा भोग है ये तो सब में होगा पेड़ पौधों में अन्य जीवों में और मनुष्य में लेकिन कर्म करने का कर्माशय बनने का वो केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही है और इसकी बात को बताने के लिए शरीरों के जो भेद होते हैं वो आगे बताए जाते इसी बात को स्पष्ट किया जाता देखिए अगला सूत्र एक सौ पच्चीसवा बोलिए त्रिधा प्रयाणम व्यवस्था कर्म देह उपभोग देह उभय देहा तो त्रयाणाम ये देव मनुष्य या तीर्यक शरीर है जितने भी तीन अधिकारी भेद से तीन प्रकार के बताए गए ऊर्धम सबको विशाला मध्य वाले रजो बहुज हैं और निम्न वाले तो चाहे वो जो शरीर के भेद हैं अधिकारी भेद सात्विक राजसिक तामसिक जो भी तीन हैं उनकी इन त्रयों की त्रिधा व्यवस्था तीन प्रकार से व्यवस्था की गई है कैसे होते हैं ये तो पहला कहा कर्म देह दूसरा कहा उपभोग देह और तीसरा कहा उभय दे उभय में कर्म और भोग दोनों आ जाएंगे इसके लिए हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये कर्म योनि ये भोग योनि और ये उभय योनि यानी कर्म और भोग दोनों होते हैं जिन शरीरों में वही बात यहां पर कही गई है अब इसे हमें समझना है कि उभय देह कौन है वो केवल मनुष्य है जो तीसरे हैं उभय देह केवल मनुष्य हैं उभयदेव वो कहलाएंगे जिनको उनका शरीर पिछले कर्मों के फल के रूप में मिला है यानी भोग के लिए मिला है और नए कर्म करने का भी जिनको अधिकार दिया गया है पिछले कर्मों का भोग भी भोग रहे हैं शरीर आदि मिला है और नए कर्म करने का भी अधिकार है और उसके साथ साथ नए कर्म जो कर रहे हैं उसका भी कुछ कुछ फल उसी जन्म में भी होता रहता है वो भी जुड़ जाएगा ये उभय नए जिनका है मुख्य है कि जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार से मिला है जिनका भी शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है उनको भोग योनिया तो कहेंगे अब उसमें वृक्ष वनस्पति भी आ गए अन्य भी आ गए और मनुष्य भी आ गए भोगत्व तो सब जगह है लेकिन जहां कर्म करने का भी अधिकार है नए कर्म का वो उभय योनि कहलाएगी जैसे कि मनुष्य अधिकांश मनुष्य अपवाद एक है जो भी अभी बाद में बात करते हैं और अन्य पशु पक्षी जो है उनमें अन्य पशु पक्षियों का शरीर उनके पिछले कर्म के अनुसार मिला है इसलिए भोग तो चल रहा है उनका इसलिए केवल वो भोग देंगे नया कोई कर्म कर्माशय कमा नहीं बन रहा क्रियाएं तो वो करते हैं वृक्ष वनस्पति में तो वैसी क्रियाएं नहीं है और सामान्य आंतरिक क्रियाएं तो इनमें भी होती हैं लेकिन अन्य जो पशु हमें दिखाई देते हैं पक्षी वो भी चलना फिरना उसमें भी कुछ हम चयन देखते हैं धूप में बैठना छाया में जाना इसको खाना उसको नहीं खाना साथ में रहना अलग होना इससे झगड़ा करना इससे प्रीति करना ये बहुत सारी चीजें वहां देखी जाती हैं और एक अंश में वहां पर कुछ हमें स्वतंत्रता भी लगती है वो अपने कर्म की स्वतंत्र है यहाँ पर करें नहीं करें करूं नहीं करूं कुछ थोड़ा सा चयन हमारे को दिखाई देता है कि कर्म की स्वतंत्र है लेकिन वो उनके केवल जीने मात्र के लिए है उससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है ये वो कर्म नहीं कहलाते ये तो मात्र जीवन जीने के लिए कर्म है वो उनके भोग रूप में ही है भोग को करने के लिए भी तो कुछ कर्म करना होता है बिना कर्म किए तो भोग भी नहीं होता है तो इन अन्य पशुओं के जो कर्म होते हैं वो तो भोग के लिए ही होते हैं इसलिए वहां कर्म देखते हुए भी सामान्य कर्म देखते हुए भी उनको उभय नहीं कहा जाता वो कर्म और भोग दोनों है केवल भोग माना जाए इस सामान्य कर्म और उनकी बहुत सीमा है उतने ही अंश में वो घूमते रहते हैं कोई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल उपभोग है और मनुष्य का कर्म और उपभोग दोनों मनुष्य भोग भी करता है भोग के लिए जो कर्म करता है पशुवत वो भी उसके होते रहते हैं और विशिष्ट कर्म भी करता है विशेष कर्म भी करता है बुद्धिपूर्वक करता है अपनी उन्नति के लिए अवनति भी कर लेता है कर्मों से वो दोनों होते रहते हैं इसलिए उभय देव अब बचा कर्म जो सबसे पहला था वो किसका माने कर्मदेव वो होगा जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है नहीं जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार नहीं मिला है भोगदेव वो है जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है और कर्म करने का अधिकार नहीं है उभयदेव वो है जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है और नए कर्म करने का भी अवसर है तो यहां दोनों जगह जो भोग हम देख रहे हैं भोग योनियों में और उभय योनियों में जो भोग देख रहे हैं उसका आधार क्या है पिछले कर्मों के अनुसार से शरीर मिला अब वो शब्द यहां पर है नहीं ये केवल कर्म देह है तो ऐसे शरीर जिनका मिलना पिछले कर्म के अनुसार नहीं है भोग के लिए नहीं है ये शरीर पिछले कर्म के अनुसार नहीं है हाँ लेकिन नए कर्म करने का अवसर है जिनको ऐसे और वो भी मनुष्य ही शरीर होंगे कि वो होंगे जो मुक्ति से लौटे हैं जिनके पिछले सारे कर्म क्षीण हो चुके थे मुक्ति में जाने से पहले मुक्ति में कोई नए कर्म नहीं होते अब जो उनको जन्म होगा यदि उनका जन्म भी हम पिछले कर्मों के अनुसार माने तो वो कैसे शरीर कहलाएंगे उभयदय कहलाएंगे क्योंकि तो नया कर्म करने का तो अधिकार है उनको मुक्ति से लौटे हुए और पिछला कर्म के अनुसार मुक्ति से पहले के कर्म के अनुसार अगर उनको शरीर मिलता है तो वो भी उभयदय ही कहलाएंगे तो फिर नहीं कौन से तो तो कहने कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि भाई जो जीवन मुक्त हो गए हैं जो निष्काम कर्म करते हैं अब उनका कोई भोग नहीं बनेगा क्योंकि निष्काम कर्म कर रहे हैं अविद्या है नहीं कर्म कर रहे हैं बस उससे उनको कोई भोग नहीं मिलेगा तो ठीक है जब वो जीवन मुक्त बने उसके बाद से तो ये बन लग जाएगा लेकिन जब तक वो जीवन मुक्त नहीं बने थे तब तक का काल और जीवन मुक्त तो, कोई पैदा होता नहीं वीतराग जन्म अदर्शना जन्म लिया है अगर पिछले भी जन्म हो रहे हैं फिर जन्म लिया है तो जीवन मुक्त तो नहीं है अभी यात्रा शेष बाकी है कितनी भी कम हो अंतिम स्थितियां हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी है अब वो जो उसने पहले का जीवन जिया और जीवन मुक्त का भी जो शरीर मिला वो उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही तो मिला है और कर्म का भोग भी भोग रहा है पिछले कर्मों का नए कर्म भी कर रहा है और अब वो जीवन मुक्त बन गया उसका जो ये पूरा शरीर है ये जो शरीर की बात चल रही है पूरे शरीर की बात चल रही है किसी एक भाग की नहीं चल रही है हम यू कहें कि जीवन मुक्त हो गया और अब इसका शरीर ऐसा चल रहा है कि इसमें कोई भोग नहीं है और केवल कर्म नहीं कर रहा है क्योंकि तो यह भोग वाले कर्म ही नहीं कर रहा है कि केवल इतने अंश में ये लग नहीं सकता है तो पूरे शरीर को देखा जाएगा और भोग तो उसका हुआ है पहले जीवन मुक्त बनने से पहले शरीर भी मिला है हमारे इसलिए ये उभय हृदय में आया और जो इतने अंश को माने भी कि जीवन मुक्त होने के बाद में जो जीवन चल रहा है अब वो निष्काम कर्म करने वाले हैं केवल कर्म है भोग उनका नहीं है ये भी सांख्य मत से विपरीत पड़ता है क्योंकि तो पीछे जीवन मुक्त के लिए क्या कहा था चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है तो जीवन मुक्त तो हो गया है तो भी इसका जो ये शरीर चल रहा है ये किस आधार पर चल रहा है प्रारब्ध से जिस प्रारब्ध से उसका ये शरीर चला था उसी का धक्का भी चल रहा है अभी भी वो अपने कर्म के अनुसार भोग रहा है तो जीवन मुक्त भले ही भोग योग्य कर्म ना करे सकाम कर्म ना करे संभव है अविद्या चूंकि नष्ट हो चुकी है इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो कर्माशय में जाए उसका भोग भोगना पड़े लेकिन जो उसका शरीर चल रहा है निष्काम कर्म करते हुए भी जो शरीर चल रहा है दो पांच दस बीस साल पचास साल जी रहा है वो जीवन मुक्त होने के बाद भी ये भोग तो चल ही रहा है उसका प्रारब्ध इसलिए इस भाग को भी हम ये नहीं कह सकते कि केवल कर्म कर्म कर रहा है भोग नहीं कर रहा है तो जिस शरीर की प्राप्ति पिछले कर्मों के अनुसार यानी भोग के रूप में नहीं है ऐसा शरीर हमें ढूंढना पड़ेगा उसको कर्मदेह कह सकते हैं अब ऐसा कौन सा शरीर है और कोई अवसर नहीं है कोई अवसर नहीं है तो इस सूत्र से भी परोक्ष रूप से वो बात सिद्ध होती है जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि मुक्ति के पहले सारे कर्म समाप्त तो होते हैं नहीं होते समाप्त होने के अपने और अलग स्वतंत्र प्रमाण भी है लेकिन इससे भी सिद्ध होता है यदि हम ये नहीं मानेंगे हम यही मानते रहे कि पिछले कर्मों के अनुसार ही मुक्ति के बाद में जन्म होता है तो इस शरीर को हम कर्म दे तो नहीं कह सकते उसको हमें उभय दे ही कहना होगा हमारे को तो ऐसे व्यक्तियों से प्रश्न उठेगा कि कर्म रहित को आप कैसे व्याख्या करेंगे तो तीन तरह के शरीर बताएंगे तो तीन प्रकार के शरीर हुए मुक्ति से जब हम लौटते हैं अब ये परमात्मा की बस कृपा है शुद्ध कृपा है कर्म निरपेक्ष कृपा है नया अवसर दिया जा रहा है शरीर आदि का इसलिए सामान्य मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा क्योंकि तो पाप और पुण्य है ही नहीं इसलिए बराबर है शून्य शून्य बराबर है तो बस एक सामान्य अवस्था का सामान्य जीवन मिला अब उसके बाद में अच्छे करता है तो और अच्छा बन जाएगा बुरे करता है तो और बुरा चला जाएगा फिर मेरे मेरे शरीरों में जाएगा वो फिर जैसी हमारी गति हो रही है ऐसी हम सब भी ऐसी मुक्ति से लौटे कभी हम भी कभी कर्म रहे थे फिर हमने जैसे कर्म किया उसके अनुसार अब हमारी उभय देह चल रही है करते करते फिर मुक्ति में पहुंच जाएंगे इस जन्म में अगले जन्मों में दस बीस जन्मों में सौ जन्मों में कभी ना कभी चलेगी यात्रा तो शुरू कर दी है पहुंच जाएंगे वहां तो त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था ये जो तीन प्रकार के शरीर हैं इसमें तीन तरह से व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कर्मदेह उभय उभयदेह ये तो केवल दो ही व्यवस्था बता देती है भोग दे और दे या कर्म और भोग दे यही बोलते तीन कहिए हो गया बोलिए तो आचार्य जी पिछले सूत्र की जब चर्चा चल रही थी तो वहाँ आया कि यदि हम सुखोपभोग करते हैं तो उसमें हमारे पुण्य कर्माशय जो है वो क्षीण होते हैं यदि हम किसी के द्वारा दिया जा रहा कष्ट है या इस प्रकार से जो भी दुख हम गिरते हैं उसके आधार पर हमारा पाप रूपी कर्माशय जो है वो क्षीण होता है ये बिल्कुल सही बात है तो फिर जो दूसरे कष्ट देते हैं हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए ये मतलब नहीं है क्योंकि परमात्मा ने आदेश दे रखा है अन्याय का विरोध करने का दुष्टों को करने का ये नियम कब तब लागू होता है कि दूसरों ने हमें कष्ट दिया और फिर उसकी हमारी पूर्ति हुई क्षतिपूर्ति हुई परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था से जब हमने अपना पुरुषार्थ भी पूरा किया है हमारे पुरुषार्थ में जितनी जितनी न्यूनता होगी उतनी उतनी पूर्ति हमारी कम होगी हम अपनी तरफ से जितनी सामर्थ्य हमने पूरा रोकने का प्रयास किया दूसरा हमारे को दुख ना दे हम अपनी व्यवस्थित हैं उसका प्रतिकार भी करें फिर भी दूसरे ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया हमारे को दुख हुआ हमारी वस्तु छीन ली ऐसी स्थिति में हमारे को पूरी पूर्ति होगी और यदि हमने कुछ दोष किया हमने शिथिलता रखी हमने अपने सुरक्षा नहीं रखी हमारे सामान की रेलवे स्टेशन पर बैठे और सो गए और कुछ भी ध्यान नहीं रखा और कोई भी उठा के ले गया इसमें हमारा भी दोष बनता है अब पूर्ति पूरी नहीं होगी कम होगी दूसरे ने फिर भी हमारा उठाया गलत उसने फिर भी किया हम सावधानी नहीं रखते इससे उसको हमारी वस्तु लेने का अधिकार नहीं मिल जाता है उतने अंश में उसका दोष है लेकिन हम भी दोष कर रहे हैं जैसे कि आप एक समझने के लिए मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूं जितना घट जाए उतना लगा सकते हैं कि वाहनों का दुर्घटना होती है और उसमें या तो कोई यंत्र हमने लिया और उसकी हम पूर्ति लेते हैं कभी गलत हो जाता है तो यदि हमारे दोष से होता है वो पूरा तो अब उसकी पूर्ति नहीं होगी अब कई बार हमारा भी थोड़ा दोष होता है दूसरे का भी होता है तो हमारा भी दंड कम होता है हमारे को भी पूर्ति होती है अभी तो उसने किया था और हमारा ही सारा दोष हो तो पूर्ति नहीं होगी और हमारा कुछ भी नहीं और दूसरे ने वैसे ही कर दिया है तो हमारी पूरी पूर्ति होगी ये एक न्यायोचित व्यवस्था है ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए तो ये क्षतिपूर्ति वाला नियम तब होता है जब उनका कोई बस नहीं अब कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और हमने पैर रख दिया वो क्या बच सकते हैं क्या वश है उनका ऐसे में जितना जितना उनको कष्ट होता है उतना उतना उनका पाप कर्माशय घट जाता है और हमने जो जानबूझ के अगर उनको ऐसे किया है ईश्वर की आज्ञा के विपरीत उतना हमारा पाप बन जाएगा तो मनुष्यों में भी परस्पर जो दुख आते हैं आदि भौतिक दुख आते हैं उसमें हमारी सीमा में रहते हुए हमारे द्वारा उचित करते हुए भी जो दुख आते हैं उसकी पूर्ति होती है और हमने ही गलत कार्य किया है और हम हमारे को कोई दंड दे रहा है और उससे हमें दुख हो रहा है इसकी पूर्ति नहीं है ये गलत बात एक अलग प्रक्रिया शुरू हो गई हमने एक गलत कार्य किया उसका अपना जितना दंड होना है वो होगा और न्याय व्यवस्था से राजा प्रजा से जो हमें दंड मिलता है माता पिता से उतना जितना दंड मिला उतना उस पाप का कम हो जाएगा बचा हुआ परमात्मा दे देगा दंड लेकिन पिछले पाप इससे क्षीण नहीं होंगे ये तो हमने नया कर लिया और हमने जितना गलत कार्य किया और दंड होना चाहिए थोड़ा और दे दिया किसी ने अधिक क्रोध के कारण से अज्ञानता के कारण से लापरवाही से कैसे भी हमारे को अधिक दंड मिल गया बहुत अधिक अब इसकी पूर्ति हो जाएगी जितना हमारा दोष था उतना तो कम हो जाएगा कि भाई इतना तो इसका होना ही था अतिरिक्त जो हमें दंड मिल गया हानि हो गई दुख हो गया उसकी पूर्ति होगी पूर्ति दो ढंग से देख सकते हैं एक तो पिछले कर्म का क्षय हो जाना पाप का जो अगर है और हमारा पिछला पाप कर्माशय नहीं है तो उसकी पूर्ति नए साधनों के रूप में आगे भरपाई हो जाती है तो दोनों तरह हो सकता है लेकिन न्याय तो होगा ईश्वर न्यायकारी है ठीक अच्छा जो जो पीछे, जो सूत्र आए थे जो श्री आगे बताए आवाज कट रही है तो जो पीछे तीन शरीर बताए थे सत्तर संवादे उनसे इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे संबंध मतलब यहाँ देखो तीन शब्द का है तीन का त्रयाणाम त्रिधा व्यवस्था त्रयाणाम तीन की तीन प्रकार से व्यवस्था है तो तीन जो है वो तीन कौन से हैं इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है अब हम ये भी व्याख्या कर सकते हैं अभी तत्काल पहले तो कुछ तीन चीजें कही नहीं है तो कुछ लोग यहाँ पर देव मनुष्य और तीर्यक ये तीन तरह भेद कर देते हैं व्याख्या करूंगी किया हुआ है कि जो तीन तरह के शरीर हैं इनमें जो व्यवस्था है वो तीन प्रकार की है ठीक है तीन का वो भी संगति लग सकती है और चूंकि तीन इन्होंने खुद ने बताए हैं अलग अलग शरीर को सात्विक राजसिक तामसिक तो वो तीन शब्द हम अंदर के अंत साक्ष्य के आधार पर वहां से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि तो यहां स्पष्ट तो किया नहीं है कि तीन कौन से हैं अब जो भी उपयुक्त संगत लग सकता है लेने शरीर ही है अब वो अलग अलग दृष्टिकोण से आप थीम बना सकते हैं ठीक है वो कोई से भी थीम ले लें लेकिन सब शरीर आ जाएंगे उसमें तमोगुण ही है वृक्ष वनस्पति आ जाएंगे अन्य भी कुछ आ जाएंगे मनुष्य आ जाएंगे रजोगुण आ जाएंगे ऐसे उन्होंने तो दूसरी व्याख्या की है जी वो किस आधार पर की है देव मनुष्य तीरिया नहीं इन्होंने अन्य प्रकार आचार्य ने इन्हीं तीन सहयोगी दूसरे प्रकार से व्याख्या की है क्या पेज संख्या तीन सौ सत्तर देव मनुष्य तीव्या की लिखा है उन्होंने ऊपर जो जो वादवादी का व्याख्या की है जो तीन प्रकार की व्याख्या की है वादवादी कर्मदेव उपभोग जी हाँ, तो वो तो मैंने चर्चा करी थी उसकी इन्होंने जो कहा था जो प्रतिफल की आशा छोड़कर केवल कर्मानुष्ठान में तत्पर हैं रहते हैं ऐसे वीतराग ऋषि यति ब्रह्मचारी सृष्टि के आरंभ के वेद प्रवक्ताओं को कर्मदेह समझें इसमें जो जीवन मुक्त का अंश था जीवन मुक्त का जो अंश था उसकी मैंने व्याख्या करी दी थी उसको संगत नहीं मान सकते अभी कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टि के प्रारंभ में जो जीव आते हैं जन्म लेते हैं वो तो पिछली सृष्टि के कर्मानुसार लेते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कोई भी मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही कोई मुक्ति में गया भी नहीं था सृष्टि के प्रारंभ में वही आत्मा आ सकती है जो सृष्टि के प्रारंभ में मुक्ति में गई हो वही उसका पूरा काल होगा मुक्ति का काल पूरा होकर जब लौटेगी कोई बीच में गई है तो बीच में आ जाएगी तो सृष्टि के प्रारंभ में आरंभ होते ही बिल्कुल कोई मुक्ति में जा सकता है जन्म लिया है तो कुछ तो साधना करेगा कुछ वर्ष तो लगेंगे तो एकदम जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा कभी नहीं हो सकती कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चार ऋषियों के लिए भी बोलते हैं कि जो वेदों का ज्ञान दिया वो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं थी क्योंकि महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि से जो आत्माएं इधर आई हैं अब जो जन्म लिया है उनमें जो सबसे श्रेष्ठ चार थी उनको दिया गया तो जब ये चार ऋषि जो जिनको वेदों का ज्ञान मिला वो ही मुक्ति से लौटे हुए नहीं है वो भी पिछली सृष्टि से आए हैं कर्मानुसार आए हैं तो बाकी जो है वो कर्मानुसार क्यों नहीं है इसलिए ये संगत नहीं जब और कोई मान लो ये परिकल्पना है नहीं कि भाई कर्म का क्षय हो जाता है और कोई उत्तर मिल नहीं रहा है तो इस तरह के उदाहरणों को कर्मदेह में घटाते हैं क्योंकि ये लोग ये मानते ही नहीं है कि कर्म का क्षय हो जाता है ये विकल्प तो उनके मन में तब आए ना जब वो ये मानते हो कि कर्म का सारा क्षय हो जाता है तो ये मानते हैं कि कर्म रहते हैं और मुक्ति के बाद भी कर्म के अनुसार शरीर मिलता है तो वो आत्माएं तो उभयदय में आ गई जो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं वो उनकी दृष्टि में तो उभयदे में आ गई क्योंकि पिछली मुक्ति के पहले के कर्मों के अनुसार उनको शरीर मिला है तो अब ये कर्मदेह किस में घटाएं ये शब्द जो सूत्र में दिया है इसकी संगति कहां लगाएंगे तो उसके लिए अलग अलग ढंग से कहते हैं कोई जीवन मुक्त कह देता है कोई सृष्टि के प्रारंभ कह देता है लेकिन थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो वो संगत नहीं है विरुद्ध पड़ता है ये तो केवल और केवल एक ही व्यवस्था बन सकती है पूछिए आचार्य अच्छा, जी एक बात समझ नहीं आई कि जैसे मान लो पिछले कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति खूब धन ऐश्वर्य है उसके पास तो वो क्या उसको उसका प्रयोग ना करे क्योंकि इससे जैसे आप कह रहे हैं कि कर्माशय घटता है मतलब उसका उपयोग करेगा तो घट जाएगा हाँ या फिर उसके पास में विकल्प है विकल्प क्या है उसके पास में भोग भी कर सकता है वो तो और कर्माशय घटने की उसको तो चिंता है नहीं वो तो आपको है भाई वो तो चीज आई है तो भोग करनी है और का कर लेगा काम तो वो तो भोगने के लिए आया हुआ है वो तो भोगेगा ही हमारे को जो कर्मानुसार चीजें मिलती हैं उसका हम भोग में भी उपयोग कर सकते हैं और उसका नए कर्मों में भी विनियोग कर सकते हैं नए कर्म करने में उसको लगा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं नए पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं ये हमारे पास स्वतंत्रता है जो हमें कर्मानुसार भोग मिला है उसमें भी भोगने की हमारी स्वतंत्रता है पुण्य कर्मों के संदर्भ में पाप कर्मों के संदर्भ में तो हमारे को दुख भोगना ही पड़ेगा वहां बहुत आंशिक विकल्प है और आंशिक विकल्प हम लेते भी हैं तो उसका फिर और दंड मिलता है लेकिन जो पुण्य का फल साधन हमें मिले हैं उसका उपयोग हम कैसे करें ये हमारी पूरी स्वतंत्रता है हम उसको भोग में ही लगाएं कोई अनिवार्य नहीं कि वो कर्म के अनुसार फल मिला है तो हमारा भोगना ही होगा ये शरीर मिला है तो इसको भोग में ही व्यतीत करना होगा ये कोई नियम नहीं है चाहे तो भोग सकते हैं चाहे तो भोग से रहित रहते हुए हम साधना कर सकते हैं हम इसी शरीर से सेवा कर सकते हैं नए और पुण्य कमा सकते हैं जैसे किसी को वेतन मिले उसके कर्म का फल की तरह से आ गया रुपए पैसे जो भी आए अब वो चाहे तो उसका उपयोग कर ले खाना पीना अपने उपभोग की सामग्री खरीद लें और चाहे वो बैंक में डाल दें और कहीं लगा दें जिससे उसका और रुपया और बढ़ाए मानी बीज बो दे और अच्छा चाहे तो वो उसको फाट फूट करके नष्ट भी कर दें किसान ने खेती की अन्न उपजा अब उस अन्न को वो खा करके भी समाप्त कर सकता है कि मैंने किया है भोगा है तो अब मेरे को तो भोगना ही है सारे को अब इस बीच में से बो नहीं सकता मैं नया ऐसा नहीं वो करेगा तो समाप्त हो जाएगा लेकिन बुद्धिमान होगा वो खाएगा भी उससे और कुछ उसी में ऐसे बीज भी बो सकता है बीज बोगा ताकि आगे के लिए काम चलता रहे वो तो दान के तरह से दे सकता है दान बीज बोना ही है एक तरह से अपने पास से चीज जाती थोड़ा है वो तो हमारे को मिलनी है जो दान दे रहे हैं वो हमने अभी दूसरे को दिया है हमारा पुण्य बनी है हमारा निवेश है इन्वेस्टमेंट है ये हम अपने पैसे को अपने पास रखें तो बढ़ता नहीं है बैंक में जमा करें तो कुछ ब्याज बढ़ जाता है और किसी भी जगह लगा देते हैं शेयर खरीद देते हैं फैक्ट्री में लगा देते हैं वो बढ़ जाता है हम सरकार को दे देते हैं सरकार सड़कें बनाती है पुल बनाती है तो उसके बदले में हमारे को कुछ अतिरिक्त दे देती है कि हमने कुछ दिया था तो ये तो निवेश है परोपकार अपने धन संपत्ति साधनों का निवेश है आगे के लिए वो अधिक बढ़ के मिलेगा और आगे मिल जाएगा है तो अपना ही और चाहे तो हम इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं हमें मिला है और हमने नष्ट कर दिया आत्महत्या कर ली अपने साधनों को नष्ट कर दिया अब उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी ये तो हमने खुद ने किया इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी अन्यायपूर्वक दूसरा अगर उसको नष्ट करता है तो हमारी क्षतिपूर्ति होगी तो कर्म के अनुसार जो मिला है उसको हम भोग भी सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं दान दे सकते हैं नए कर्म करने में भी उसको लगा सकते हैं हो गया जी यदि मान लो किसी को विवेक हो गया है मतलब ज्ञान हो गया है कि कर्माशय कैसे कम उठकर कैसे बढ़ता है तो जैसे लिखा हुआ है श्याम पते हो नहीं नाम तो उस मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं कि धन कमाए हो और फिर दान दे या मतलब अपनी इच्छाओं को सीमित करके वहीं पर अपनी इच्छाओं को सीमित करके वो कम करेगा वैसे वयम श्याम पतयो रही नाम रही उस धन को कहते हैं जो दूसरों को दिया जाता है अपने लिए नहीं वो कमाएगा अभी उसकी ऐसी स्थिति है कि वो खूब कमा रहा है और कमा करके और दूसरों को दे रहा है अच्छे कार्यों में धर्म की वृद्धि में लगा रहा है अच्छी बात है ये कर सकते हैं सामर्थ्य है युवावस्था है गृहस्थ में है तो यही करना चाहिए ठीक है अभी संसार में जी रहे हैं परिवार चल रहा है तो ये करेगा वो करना चाहिए विधान है इसका पर एक स्थिति विवेक आएगा कि भाई ये भी सब मैं करूंगा इतना सब करूंगा इतना पुण्य मिलेगा इतना होगा इसका भी वही भोग मिलेगा शरीर फिर वही करता रहूंगा मेरे को तो जन्म मरण के बंधन से छूटना है तो अब वो उतना ही कमाएगा जितना जरूरी है उसको बाकी समय वो अपनी साधना स्वाध्याय और इसमें आध्यात्मिक चीजों में लगाएगा और नहीं तो ये जो विवेक बनता है कि मैं खूब कमाऊं और खूब दान करूं तो वो बहुत समय कमाने में लगा देता है तो इधर के आध्यात्मिक कार्यों में दिनचर्या में इसमें उसकी कमी हो जाती है वो उसकी हानि करता रहता है तो धीरे धीरे वो कम कर देगा ठीक धन्यवाद प्रणाम